देखो दूसरी बात कुछ लोग इस प्रकार का व्यक्त करते हैं जब सुग्रीव ने इतनी भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने मुस्कुराने के माने यहाँ पर भगवान का नया खड़ा भगवान की कृपा भगवान ने विष्णु पर कृपा की कांड में एक जगह ये कहलाती है कि हृदय अनुग्रह इंद्र प्रकाशा है भगवान राम जो है उनके हृदय अनुग्रह है उनके भगवान के हृदय में अनुग्रह उनके चंद्रमा प्रकाशित रहता है हृदय अनुग्रह इंद्र प्रकाशा और उनके ऊपर जो वो है वो जो भगवान उस वो उनका चंद्रमा का जो प्रकाश ही है वो भगवान के अधरों के ऊपर आकर के मुस्कुराहट प्रसन्नता के रूप में व्यक्त होती है पंचस मधुर मनोहर भाषा वो चंद्रमा तो का प्रकाश के भीतर हृदय चमक रहा है लेकिन बाहर कैसे तो पता चले तो उसकी सूचना मिलती है जब सूचक मधुर मनोहर आशा जब भगवान मधुर हंसते हैं मुस्कराते हैं तो उनके हृदय का अनुग्रह पता चलता तो भगवान कहीं हंसते हैं तो माया फैल जाती कहीं तो भगवान हंसते हैं तो लोगों के ऊपर कृपा हो जाती है अनुग्रह हो जाती है तो भगवान को कहते हैं कि नहीं उनके ऊपर कृपा की अब रघुपति बोले मुसुताई और जो बोले उसको पता लगता है कि भगवान महान फैला रहे हैं अपनी प्रियता दिखा रहे हैं कि तुम प्रिय में ही भरत समझाई कहते हैं कि हे भाई तुम तो मुझे सब के समान प्रिय हो भगवान ने कहा तुम मुझे बहुत प्रिय हो तो मैंने उसको माना जब भगवान को कोई प्रिय होगा तो क्या भगवान उसको भक्त नहीं देंगे क्या हाँ, ज्ञान नहीं देंगे क्या वो तो प्रभु ने भगवान ने उसके माने ये कि उनको स्वीकार किया सुग्रीव को अपना भक्त स्वीकार किया और भक्त के समान प्रिय अब आप देखोगे कि हनुमान जी से भगवान ने मिले पहले पहली बार अब इसी कांड की बात ज्यादा देर की बात नहीं और लक्ष्मण जी भी साथ में थे अब जब हनुमान जी के साथ में भगवान ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की तब कह दिया कि तो हमें लक्ष्मी से भी ज्यादा तुमने प्रेम है हमारा हम्म? तुम मुझे लक्ष्मण जी से भी दुगना प्रिय हो और वहां लक्ष्मण जी के समान प्रिय बता दिया और दुगना प्रिय बता दिया अब यहाँ लक्ष्मण जी दुख बात नहीं कहते सकते यहाँ भगवान जी कहते तुम तुम छठ के समान प्रिय अभी ये बात नहीं है कि भगत बड़े फिर लक्ष्मण बड़े अगर बड़े के साथ देखो तो भगत बड़े हैं लक्ष्मण छोटे हैं वो बात अलग है लेकिन भगवान के लिए भगत ज्यादा प्रिय हैं कि तो लक्ष्मण ज्यादा प्रिय हैं अब ये धोड़ा तो जरा इसमें प्रिय प्रिय दोनों ही है भगवान के भरत भी प्रिय है भगवान के लक्ष्मण भी प्रिय लेकिन सुग्रीव की क्षमता भरत से ज्यादा हो सकती है हनुमान जी की क्षमता लक्ष्मण जी से ज्यादा हो सकती है क्योंकि लक्ष्मण जी सेवक थे और उन सेवक को हनुमान जी ने सेवक तो सेवक सेवक की तुलना करें तो ये बता दें हनुमान से कि भाई लक्ष्मण जितनी हमारी सेवा करते हैं या करेंगे तो तो उससे दुगनी सेवा करने वाले तो सेवा भाव में जब उनको जो है लक्ष्मण जी से दुगना बता दिया हनुमान जी लेकिन सुग्रीव को राजा बना दिया और भक्त को भी भगवान ने राजा बना दिया भरत तक राज्य चाहते नहीं थे तो भी भगवान ने राज्य उनको सिर्फ छोड़ दिया तो जबरदस्त वक्त पड़े राज्य उतना तो करना ही पड़ेगा और यहाँ सुग्रीव चाहते ही था कि राज्य हमारा खोजा मिल जाए तो भगवान ने सुग्रीव को भी राजा बना दिया और फिर ये दोनों जो है ये भाई भाई की तरह से सुखदेव बाल्मीक जी कहते हैं कहते हैं कि भगवान ने तो ये कहा सुग्रीव से कि अभी तक तो हम चार भाई थे अब तुम जब से मिल गए तब से हम पांच भाई अब देखो बोलने का तरीका अपना अपना जो है इस प्रकार से ऐसे तो जब वो पांच भाई हो गए उस प्रकार से बोला तो तुलसीदास जी अब मेरा मेरा पता नहीं है तुलसीदास जी को अपनी भी कुछ कमित लगाएंगे कुछ अपनी भी बुद्धि लगाएंगे तो उन्होंने इस बात को इस प्रकार से कहा कि तुम मुझे अपने घर से भी दिखने के लिए भक्त समान प्रिय तुम प्रिय नहीं भक्त जिन भाई सीधी बात यह है कि तुम भी मुझे प्रिय हो बहुत जैसे हमारे भाई लोग प्रिय हैं और सब उनमें प्रियता है भक्तों में दासों में जैसे के प्रति हमारा प्रेम होता है वैसे तुम्हारे साथ भी प्रेम है भारत जतन करो मन लाई अब कहते हैं कि अब तुम अब तो कम से कम वो उपाय करो कि जो भी सीता को शुभ पाई जिससे पता लगे कि सीता जी कहा है सुग्रीव ने तो भगवान से मिलते ये वादा किया था कि आप चिंता मत करो आप घटना देने लगे उनके सामने सुग्रीव के सामने जब ऋषि पर्वत पर पहले पहले मिले थे कि सीता जी नहीं है और खो गई और उस प्रकार से बहुत दुखी हो रहे जब सुग्रीव ने वो दिखा दिए वस्त्र आदि दिखा दिए आदि सीता जी को दिखा दिए तो भगवान ने सुबह से लगा तो भगवान ने आंसू गाने शुरू कर दिए पर सुग्रीव ने समझाया उनको कि आप क्यों इतने दुखी होते हो <clears throat> हमको जहाँ कहीं भी सीता जी होंगी वहां खिला करके आपको युद्ध करा देंगे तो सुग्रीव का दादा किया था सीता जी को ला देंगे पता भी लगा देंगे ला भी देंगे कहा देंगे लेकिन भगवान कहते लावा मत दो तुम केवल कम से कम पता भी लगा दो बाकी उपाय किया जाएगा तो जो भी सीता शुभ पाई जैसे किसी प्रकार से सीता जी का पता चले उसका तुम खोज खबर करोगे देवी के होत गत कही आए गाँव दूध ये बात चली रही थी वहाँ सबकी बस बच्चों में बातचीत चल रही थी कभी तक जो वो हो आए बानर दूत तब तक जो है बानरों के समुदाय के समुदाय चारों तरफ से दसों दिशाओं से आकर के इकट्ठे होने नाना वरण उस बानरों का वर्णन करते नाना वरण वर्ण रंग कई तरह के रंग के बानर और सकल दृष्टि की तीस गुरु सब दिशाएं दाने दाने जहाँ देखो तहाँ तमाम इकट्ठे हो गए तीस माने बने बरूथ बने उनके सबके सब झुंड की झुंड ब्राह्मणों की झुंड की झुंड चारों तरफ चारों तरफ अब इसी से अब देखो लगा लो कि पहले जब सुग्रीव के हनुमान जी की बात हुई तो सुग्रीव के कहने पर जब हनुमान जी ने ब्राह्मणों को भेजा तो उसने ब्राह्मणों को सीताजी की खोज करने के लिए नहीं भेजा था उस समय बानवों को दूतों को भेजा था कि जितने भी दूर दूर तक बारह जहां कहीं हैं राज्य में देश में विदेश में निकट में प्रदेश में उस तो सब बानवों को बुला करके इकट्ठा तो सब बानवों को बुलाने के लिए भेजा था और ये कहा था कि पंद्रह दिन में सब आ जाने चाहिए ये नहीं कि महीने महीने लगा दे इकट्ठा कर दे कि तक मैं में लगे इस प्रकार के साथ को इकट्ठा करोगे तो वो दूत लोग दानों को जाकर के जहाँ जहाँ कहीं सब पर्वतों पर बनों में जहाँ जहाँ सकड़ों मजदूर जहाँ कहीं थे ये सब दानव वहाँ पर डले गए और उन सबको ले लेकर के ले लेकर के कहा चलो वहाँ पर बस किसकिा करो किसकिा करो बुलाया राजा का आदेश हो गया सब चले गए सबके सब वहां पर चल दिए सबके सभी फटे हो गए और ये <clears throat> मान लो पंद्रह दिन था जबकि पंद्रह दिन का आदेश दिया जो पंद्रह दिन बिताया जाना चाहिए और तब तक इसके बीच में फिर लक्ष्मण जी वहाँ पहुँच गए और फिर वहाँ से ये सबके सब भगवान राम के पास भी आ गए और उसी दिन सब बानर जी चारों तरफ से आकर के इकट्ठे होने लगे अब ये बानर से मैं करती सीता जी को खोज के पास उसके बाद प्रारंभ होता तो नाना वर्ण सकल जिसे अभी बानरों का वर्णों में जितने बानर यहाँ इकट्ठे हुए तो आप देखेंगे प्रवर्तन पर्वत पर्वत के ऊपर और चारों तरफ बानर बानर बानर बानर कोटियों मानव मैंने हजार दो हजार नहीं लाखों करोड़ों नहीं कोटियों कोटियों बानर बानर सब जगह दिखाई देते और वो सब बानर कैसे है नाना वर्ण नाना वर्ण की मैंने अब अपने आप वर्ण लगा लो बर्द के वर्ण कोई भयंकर काले काले ऊपर से नीचे तक है तो कोई लाल रंग के हैं ऊपर से नीचे तक है तो कोई सोने की तरह से चमचमाते हुए इस प्रकार के हैं कोई सफेद रंग के बानर हैं कोई बड़े बड़े आकार के तो हो कोई मध्यम आकार के हैं कोई छोटे छोटे हैं इस प्रकार से नाना आकार के नाना रंगों के नाना रूपों के उनके मुक्ति पर हर भी तरह तरह के काम हो सकती है इस प्रकार के सब प्रकार के अनेक जातियों के बारे में वो सब के सब वहां पर इकट्ठे हो गए अब आगे देखिए क्या होता है <clears throat> कटक महान देखा तो मूरत जो कर्म चलेखा आई राम पद नाम माता मूरत बदन सब सनाथा पति एक न कुशल जो पूछे नाई जय कछु नहीं कहू कहो अधिकारी व्यापक रघुराई हरे जहाँ कहाँ सुपाई कहाँ सुग्रीव सभी समझाई राम का जोरन हो रही हो रहा जनर झूठ जाए जनक सुता कहो तो भोज जाई मास दिवस माए भाई जो दिन सुध बन ही सुनो समोही मराए बचन समत सब बानर संचल तुरंत तब सुग्रीव बुलाए अंगदमल हनुमंत आदर रामचंद्र सीत पवन सुत हनुमान सीत बोलो भाई सब संतन की जय बानर कटक उमा ने देखा शंकर की कथा भ्रमण करा दे कहते पार्वती सुनो वो बंदरों की सेना को मैंने देखा है ये कोई हम कहीं किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं कहते हैं लिखी लिखाई बातें नहीं कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा कैसे कैसे बानर वहां से इकट्ठे हो गए कितने आ गए और उनकी गिनती नहीं हो सकती कहते हैं कि सो मूर्ख जो करने चाहे लेखा लेखा मैंने उनकी गणना करना चाहे कोई कैलकुलेशन करना चाहे बता सकते महाराज बहुत बहुत बोलते हैं ऐसे तो बता सकते थे तो कहा कि गिनती में नहीं आते थे इसके से अगर कोई गिनना चाहे तो गिन नहीं सकता और गिन नहीं सकता था उसके दो कारण थे एक कारण तो इसलिए गिन नहीं सकते थे कि उनकी संख्या बहुत थी अब गिनती खत्म हो जाती थी तो जिसका गिनते भी नहीं सकता गिनती खत्म हो जाती तो गिने कैसे और दूसरी बात ये बानर इतने चंचल थे और सख्त इतनी इतनी ज्यादा उनमें स्फूर्ति थी कि जब तक दिनों उधर तब तक वो उधर के उधर चला जाए जब तक इधर से गिने तब तक उधर से उधर चला जाए तो दुनिया में आ ही नहीं सकते इसलिए कहते हैं कि जो दुनिया का है माने वो दुनिया वाला देते सोम ग्रह जो कर्मचह लेखा आई राम कदम आवही माथा वो सब दानवर भगवान के पास आते हैं भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और मेरा के बदन सब अपने समाता है भगवान के दर्शन करके सब अपने आप को धन्य मानते हैं सनात मानते धन्य मानते हैं ये सब दानव जो है वो देवता है देवता लोग जिन लोगों ने देवताओं ने मानव रूप धारण किया हुआ है तो देवताओं को तो दिल लिया गया जहाँ अपने दो छात्र हैं उन्होंने कहा कि देवता सब सकते तो हैं कि तैतीस करोड़ व्यक्ति देवता तो वो तो गिनते नहीं लेकिन वो देवता वही वही सब देवता देवता नहीं है तैतीस करोड़ देवता तो नित्य देवता है नित्य देवताओं के तो मैंने वो सब जगह सब स्वर्ग आदि से तमाम जितने लोग लोकांतर हैं उन सब लोगों में जितनी भी शक्तियाँ हैं स्थान जय सूर्य देवता पृथ्वी देवता पवन देवता वर्ण देवता ये सब देवता देवता करके इस प्रकार इंद्रादी देवता है नेत्रों में बैठे देवता है पान में बैठा हुआ देवता है पिंकुटी में बैठा हुआ देवता है सब जगह देवता देवता सब जगह है तो ये तो सब देवता नित्य देवता है ये कैसे करो लेकिन जो लोग जो जीव मनुष्य जो है वो सिम कर्म करते हैं और पूर्ण से गलत कर्म चले जाते हैं तो स्वर्ग में भी उनको देव शरीर प्राप्त हो जाता है तो वो भी सब देवता है उतने दिन तक देव शरीर धारण करके रहते हैं तो समाप्त हुए कथन नहीं से बात की बात है तो स्वर्ग में जितनी आबादी और भी है दो प्रकार के देवता है एक नित्य देवता और एक कर्म देवता कर्म देवता कर्म के कारण से देवता को प्राप्त होती है तो अब ये सब मिलाकर के कितने हैं इनकी कोई गिनती तो यहाँ से एक बात और भी सूचना मिलती है जैसे कोई लोग पूछते हैं कि संसार में जीव कितने हैं जीव आजकल टुकड़े कितने दिन तो जो ये पूछे कि जीव कितने हैं वो समझता नहीं जीव किसे कहते हैं इसलिए इस प्रकार से पूछता तथा आजकल जीवों की संख्या बहुत बढ़ गई क्यों कि जैसे आबादी कितनी बढ़ गई तो हिंदुस्तान बढ़ गई सारे विश्व बढ़ गई की तो आबादी बढ़ गई तो तुझे कहा से आ गए हम्म? तो उनको ये पता नहीं जीव कैसे दिखेंगे इसलिए ये मान लिया जीव गिनती में आने वाले नहीं है जैसे कि जैसे जो आकाश में सूर्य हो तो क्योंकि दिल्ली में शाखा में सूर्य है अभी भोजन हम ये कहो कि पृथ्वी में सूर्य की परछाई दिखती है तो अब अब देखो बेकूफी वाली बात आ गई कि ना अब परछाई नहीं दिख रहे तब तो ऐसे ये जितने जीव हैं ये चिदाभास हैं इनकी गिनती कोई नहीं ये सब अगणित है <coughs> देवता हो चाहे मनुष्य हो चाहे अगर ये बताओ मक्खियाँ कितने हैं अगर ये बताओ मच्छर कितने हैं दुनिया फिर ये पूरा कीमत कितनी है लेकिन तो दिल्ली किसी भी प्राणी को तो सब ये सब है कि किन्ने आने वाले कोई नहीं देवता भी किन्ने आने वाले नहीं है लेकिन ये सब देवता लोग आकर के बात कर रहे थे तो ये समझते थे भगवान आएंगे अवतार लेंगे उनकी लीला में हम सम्मिलित होंगे उनके दर्शन करके हम आनंदित होंगे तो अब इनके सार्थक हुए अब जैसे इन लोगों ने सुना इस गुरु ने बुलाया है और सब सीता जी की खोज करनी है भगवान की लीला चल रही उसमें भाग लेना तो सब लोग दौड़ करके आ गए अब इनका मुख्य कार्य यही था अभी तक ये सब पैदा होकर के जहाँ तक फैले हुए थे अब भगवान की सेवा कार्य में लग रहे हैं <clears throat> अब ये कहते हैं कि देखो कि असपति एक सेना माही राम कुशल जो पूछे नहीं पहले तो अग्नि बता दिए देवताओं है पर कहते हैं भगवान ने सभी जितने भी वहाँ तक बंदर आए थे उन सब सेना के पत्नी बंदरों से भगवान ने सबकी कुशल पूछी सबने भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने सबसे कुशल पूछे अब ये तो आप कहो कि भगवान सबने तो प्रणाम दूर से तो कर लिया लेकिन भगवान को तो एक ही किसके से कुशल पूछे मैंने कोटियों से तो उनको बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाए फिर दूसरा दिन सुबह से शाम हो जाए तो पिता जो है महीने महीने बीत जाए सालों सालों बीत जाए तब वो कोटी उनके सामने इंटरव्यू हो पाए तब उनका प्रणाम हो पाए तब उनकी कुशल पूछ पाए तो ये कहते हैं देखो शंकर जी कहते हैं सभा से ऐसा मत लगाना ये जो कथा परमात्मा की है ये अध्यात्म विद्या दूसरे प्रकार की विद्या है ये जैसे समझी जाती है वैसे समझो ये सब जो दो प्रकार की बुद्धियां होती है एक ऑब्जेक्टिव होती है और एक सब्जेक्टिव होती है ऑब्जेक्टिव बुद्धि और ऑब्जेक्टिव साइंस दूसरे प्रकार की है सब्जेक्टिव साइंस दूसरे प्रकार की है और जो दोनों को झगड़ कर मिलाकर जो कर देगा और उसको समझ नहीं आएगा जो मामला लगता है और बुद्धि उसकी चकराएगी तो चकराने का काम ही कर रहा है शरीर में गलती कर रहा था ये अभ्यास विद्या है उसका उसका विकास दूसरे प्रकार का होता है इसका विकास चिंतन करने के लिए नई बुद्धि चाहिए विशेष प्रकार की आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए इसका विज्ञान दूसरे प्रकार का सब्जेक्टिव है मैंने अपने आप देखो अपने भीतर देखो इस प्रकार से उसको देखना पड़ता है ये विद्या समझ में आती है तो कहते हैं कि देखो ये इसमें ऐसा हुआ है कि भगवान ने सबसे कुशल पूछी तो मैंने पार्वती जी ने पूछ दिया तो आखिर इतने बंदर रहेंगे कैसे कुशल पूछी होगी तो कहते हैं कि यह कछु यह कछु नहीं प्रभुता अधिकारी अरे भाई तुम क्या टकराते इसमें कोई भगवान की इसमें कोई बहुत बड़ी महिमा वाली बात थोड़ी है तो यह तो भगवान का स्वरूप ही ऐसा है कि विश्व रूप जाकर रघुराई भगवान का रूप है और व्यापक है हम्म? उनके लिए एक आकर्षण है सारा विश्व विश्वास है परमात्मा का रूप है विश्व का रूप जो है परमात्मा ये विश्व परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं जब विश्व दिखाई देता है तो परमात्मा इस विश्व के रूप में भाषित का होता है परमात्मा ही सबका सब जगह व्यापक है सर्वत्र विद्यमान है कहीं ऐसे नहीं जहाँ परमात्मा न हो इसलिए ऐसा नहीं समझ सकते हो कि जितने मैंने सत्रह सत्रह मील में दिन तक ये बानर बानर लोग सब फैले हुए थे चारों तरफ वहाँ वहाँ भगवान विश्व रूप होकर के नाना रूप होकर के हर बानर को मिल गए हर बानर ने भगवान को प्रणाम कर दिया और भगवान ने भी सब बानरों की खुशी की और ये बात जो है कई बार ये बात आई है जहाँ जहाँ भगवान मिले अभी चित्रकूट में देख करके आए हैं जब चित्रकूट के सब लोग वहाँ पर अयोध्या वासी सब आए तो भगवान से मिलने गए तो हर कोई भगवान से जल्दी जल्दी मिलना चाहता था बड़ा ग्रह लेकिन दुखी थे सबके साथ कि जल्दी भगवान हमको मिले हम पहले मिल लें और हम पहले मिल लें तो भगवान सबसे एक साथ मिलिए देखने लगी ये बात वहां भी कहे हैं आगे उत्तर काल में भी देखते हैं कि घंटा से लड़ करके अयोध्या भगवान पहुंचते हैं तो सब अयोध्या वासी फिर भगवान से मिलना चाहते हैं हर किसी को उत्सुकता है तो भगवान सबसे एक साथ मिल लेते हैं अब ये इस प्रश्न का उत्तर है परमात्मा एक है क्या नहीं तो फिर परमात्मा एक है और जीव कितने हैं तो जीव तो अनेक है और तो फिर कहते हैं कि हर जीव के हृदय में परमात्मा का बात है कि नहीं तो यहाँ है तो फिर तो जीव तो अनेक है तो फिर वो परमात्मा तो हर हृदय में बात होगा तो परमात्मा भी जितने जीव के परमात्मा होंगे तब तो सबके हृदय में बात करेगा दोनों से एक बात कहो परमात्मा एक है कि अनेक है कि परमात्मा तो एक है तो पंडित जो कहते हैं वो सबके अगर में बात करता है तो वो भी बात ठीक है तो इसको मैंने बुद्ध फिर गई बात तुम्हें हो सलाह नहीं तुम क्या बोल रहे हम्म? या तो ये तो परमात्मा एक है या तो परमात्मा अनेक है तब बस यही शास्त्र की अपनी विशेषता समझने की बात बस इतनी है कि एक होकर के भी सबके हृदय में बात कैसे हो सकता है जैसे आकाश आकाश बताओ एक है कि दस है तो एक है आकाश तो सबके शरीर में आकाश है कि नहीं है तो सबके शरीर में तो सबके शरीर में आकाश और तो अनेक आकाश नहीं हो तो नहीं हो क्यों नहीं हुए क्योंकि आकाश व्यापक व्यापक शब्द के अब अगर आकाश की व्यापकता शरीर में आती है तो भगवान की भी व्यापकता ऐसी ही <coughs> तो कहते हैं कि यह कछ नहीं प्रभु का अधिकारी विश्व रूप व्यापक रघुराई <coughs> कहते खाड़े जहाँ तहाँ आय सुपाई <coughs> अब आयुष पाई मैंने आज्ञा पा कर मैंने सुग्रीव ने आज्ञा दी कि कारण सब लोग अपने एक पंक्ति में खड़े हो जाए तो सब लोग पंक्ति बना बना करके सबके साथ एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे सब खड़े हो गए मानव विश्व में पर्वत पर खड़े हुए सुग्रीव और पर्वत के नीचे बहुत दूर तक सब चारों तरफ पर्वत के चारों तरफ बानर बानर बानर बानर सबके लोग सुग्रीव की बात सुनने के लिए सब उन्हीं की तरफ उन्मुख होकर के खड़े हो गए कहे सुग्रीव सभी समझाई तब सुग्रीव सब बानरों को समझा करते हुए बोले सुग्रीव का आदेश सुग्रीव राजा है और ये सबके सब उनके आज्ञाकारी सेवक हैं तो सुग्रीव उनको सबको आदेश देते हैं कि क्या करना है अपने बुलाया जाए तुमको कि राम काज अरुणोर निहोरा जो तो देखो हम तुमको इसलिए बुलाया है कि आप भगवान का कार्य कुछ करना है तो एक तो राम का भगवान राम का कार्य हो उस बात को ध्यान दो तुम स्वयं सब भगवान के बड़े भक्त हो उनकी सेवा के लिए सब यहाँ उपस्थित हो तो भगवान की सेवा कार्य कुछ करना है तो ये तो वो बात है और फिर हमारी बात अपनी तरफ से क्या मोर निहोरा हम सब तुम्हारा निहोरा करते हैं निहोरा करते हैं कि मैंने याचना करते हैं अर्चना करते हैं तुमसे चाहते हैं ये निहोरा करना चलाता है फिर निहोरा को ज्यादा दामिल भाषा में कह देते हैं तो कहते भैया हाथ जोड़ करके सब तुमसे प्रार्थना करते हैं ये हमारा हमारी तरफ से ऐसे करके जिज्ञा करके कोई कहे हाथ जोड़ करके कहे तो उसको निहोरा करते तो कहते हम तुमसे सबसे प्रार्थना करते हैं आदेश नहीं करते हैं हम आदेश हमारा हुक्म है हम आदेश माने माने न माने कोई कहते हम नहीं मानते तुम्हारा आदेश तो हम तो सबसे प्रार्थना करते हैं मेहरा हमारा ये है कि बानर यूथ जाए तो हो रहा तुम तो सब बारह लोग यूथ बना बना करके झुंड का झुंड बना करके एक एक झुंड एक एक दिशा में इधर से सब दिशाओं में तुम जाओ कोई भी कोना छुट्टी न पावे सब जगह पर चीज पर जाकर के पता लगाओ कि सीता जी कहा हैं और जनक सीता को खोज जाए सब दिशाओं में जाकर के सीता जी की खोज करो सीता जी कहा है भगवान राम सीता जी को कोई जगह ले गया है और कहीं सीता जी कहा कहीं हो कोई ले गया हो कहाँ कहीं अभ्यास करती हो जहाँ कहीं पर हो किसी कोने में उनको सब कुछ मिले जनक सीता कहीं खोज जाए और तुम्हारे लिए ये खोजने के लिए समय दिया जाए एक महीने का ये नहीं कि तुम जाकर के बैठ रहे करो यहाँ से तो बहुत खोज रहे और खोजो और मास दिवस में आयो भाई एक महीने में खोज खास करके लौटा सब दिशाओं में जिस दिशा में दे जाए वहाँ देख करके आ जाओ जिस दिशा में हम सब जगह खोज करे वहाँ सीता जी नहीं है तो आकर के बताओ भी नहीं है और जिस दिशा में जहाँ जिसको मिल जाए तो हम इस दिशा में गए तो वहाँ सीता जी मिल गई तो जो मिल गई तो लौट करके बताओ लेकिन महीने भर में लौट करके आओ महीने भर में अपने दिशा में इस प्रकार सबको दिशाएं बांट दी दिशाओं के मैंने चारों दिशाओं में आठ दिशाएं आठ दिशाएं की सोलह दिशाएं मैंने उनके बांटते चले गए जिसमें सब तरफ बाने से लोग चले गए और हर हफ्ते कोने में जाकर के सब अपने अपने क्षेत्र में उनको सीता जी की खोज करें महीने भर का कार्य दिया तो सब जगह छलांग लगा के कुत्ते फानते ढूंढते ढांते घूम ढा करके एक महीने में लौट करके फलर देता करके जिंदगी अरे नहीं तो जो दिन सुविधा पाए अब कहते जितने लोग तुम जाओगे तो एक तो अगर नीत मैंने महीने पर बीत गया और तुम्हें लौटो ही नहीं तो भी दमनी हो जाओगे और महीने भर के भीतर तुम्हें खोज भी करनी चाहिए अब इतने लोग जाओगे तो किसी न किसी को तो सीता जी मिलेंगे और सीता जी ने खोज भी शुरू कर देगा मैंने सब बानर इतने कोटियों बानर हैं और पृथ्वी भर में तुम सब जाओगे और लौट करके सबके सब लौट करके आ जाओ कहीं कहीं सीता जी नहीं तो ये बात नहीं है तो कहीं तो होंगे मिलने को चाहिए कहीं ना कहीं इसलिए सीता जी को मिलना नहीं चाहिए तो दोनों काम नहीं मिले तो भी तुम लोग दंड नहीं हो जाओगे तो अवध एक और जो दिन सुबह पाए आवज बने ही मराए अगर तुम लोग करके आ जाते हो तो सीता जी की खबर नहीं लगती उसके इसके माने तुम दंडनीय हो कहाँ तो वहां कर निहोरा कर रहे थे और कहाँ दे करके भूसा दिखाने लगे उसके बाद तुम्हारी फिर फिर नहीं होता ये राजा की दोनों प्रकार की बातें शाम दान दंड देश जैसे पढ़ाता ना वो तो ऐसे ही करते और ये मान लो अब इसमें ज्यादा विस्तार नहीं किया ये भी कभी लड़ करके आओगे तो तुमको पुरस्कार बहुत दिया जाएगा पता लगा लाओगे तुम हाँ? ऐसे भी कह सकते तो ऐसे जितनी भी युक्तियां हो सकती थी उन सबसे सुग्री ने उनको सबको बोल दिया और ये सब बाहर चल दिए बचाने समय के साथ मान जहाँ तहाँ चले तुरंत बस वो सबके सबू को सबू उतारा सभी किसानों को जाना था सब किसानों की तरफ वो चल दिए पता लगाने के लिए कहाँ सीताजी कहाँ सीताजी खोज खोजते हुए सब सब लोग चल दिए वो इसी समय जब सब बारह लोग चले गए सब भीड़ खत्म हो गए अब उसके बाद में क्या करते हैं तब सुग्रीव बुलाए अंगद मल हनुमान तब सुग्रीव ने इनको बुलाया अंगद को बुलाया नल को बुलाया हनुमान को बुलाया नल को बुलाया तो नील को भी बुलाया नल नील दोनों भाई भाई हैं तो नील अपने आप समझ लो तो नल नील को बुलाया हनुमान को बुलाया नल को बुलाया हम्म, नील का नाम आगे ले देंगे अभी यहाँ नहीं है जान नाम को भी बुलाया ये सब लोगों को इनको तो सबको बुलाते हैं और बुला करके फिर इनको विशेष रूप से इनको कहते हैं जो सबके सब ये, ये तो सुप्रीम के बाद इन्हीं का सत्ता नंबर है मंत्री लोग हैं सेनापति लोग हैं प्रधान लोग हैं ज्यादा बुद्धिमान हैं ज्यादा शक्तिशाली हैं तो इसलिए फिर अब इन लोगों को बुला करके ज्यादा जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर ये बानर से पता लगाएंगे सभी दिशा में लेकिन तुम भी लोग जा करके <clears throat> पता लगाओ अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हो ये लोग तो कहीं बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो कहीं अटक जाएंगे कहीं पहुंच पाएंगे कहीं नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन तुम जाकर के उनकी पता लगाओ इसलिए सूच करके सुग्रीव ने उन सबको बुलाया और फिर उन सबको इकट्ठा करके भगवान भी उनके साथ बैठ करके विशेष रूप से विचार करते हैं कि किस प्रकार से सीता जी की खोज करने के लिए इन विशिष्ट पुरुषों को कैसे जाना चाहिए ये बात में करते हैं के मानस में बहुत बार अब देखो जैसे प्रसंग चलते हैं तो राजनीति बहुत बातें इसमें तुलसीदास जी बोलते रहते हैं जैसे सेना कैसे राज्य कैसा राज्य व्यवस्था कैसे ये बीच बीच में बातें आती रहती है जगह जगह आती रहती है युद्ध की बात भी जैसे आती है तो युद्ध भी होता तो कैसे किया जाता है युद्ध की नीति क्या है राज्य व्यवस्था की नीति क्या है प्रजा के साथ राजा का संबंध होता है वो किस प्रकार का होता है ये सब की सब बातें बीच बीच में आती रहती है उस पर ध्यान देंगे तो वो भी हो सकता है अब बहुत अपने जितने साहित्य भी तैयार हो रामचरित मानस है लेकिन रामचरित मानस के ऊपर दो चार दस बीस नहीं सैकड़ों दो चार सौ नाम पुस्तकें राम चरित मानस के ऊपर लिखी हुई मिलेगी और उससे वगैरह हो सकते हैं किसी ने राजनीति के ऊपर लिखा है तो किसी ने धर्म के ऊपर लिखा है किसी ने नीति के ऊपर लिखा है किसी ने तुलसीदास के रामचरित मानस को ऊपर करके वेदांत के ऊपर लिखा तो कहीं किसी भी ऊपर मैंने इस प्रकार के जितने भी पक्ष हैं उनके सबके ऊपर ग्रंथ है राजनीति के ऊपर भी ग्रंथ है रामचरित मानस में राजनीति पीएचडी की दो की डिग्री प्राप्त हुई उस पर अगर तो उसने बता दी कि प्रभु तो रामचंद्र मानस में राजनीति किस प्रकार से उसकी व्यवस्था कैसे बनी गई है तो लोगों ने छात्रों ने उसका अध्ययन किया शोध कार्य किया और उसकी पुस्तक तैयार की कहने के बाद पीएचडी हो जाते हैं जीवित हो जाते हैं उनको उपाधि इस प्रकार की प्राप्ति हो गई तो ये भी कार्य सब हो चुके हैं लेकिन जिनको भी पढ़ने की रुचि हो वो तो पुस्तकालयों को देखें पढ़ें देखें तो इन सबका ज्ञान होगा मिलेंगे पढ़ने का जिनको आदत नहीं अभ्यास है उनको तो दुनिया में स्वामी का ज्ञान बना रहे हो हम्म? वे अपने कहा से कहा जैसे कूट मंडो अपने बने रहो वैसे सब ज्ञान संसार में सबका सब एक से बढ़ता चला जा रहा है सबको इतनी चलती चली जा रही है आगे आगे <clears throat> उसके आगे तक क्या होता है रघुपते हृदयसुमदीये सत्त्वं ददामि च भवामखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुन्दरमरधराम्ये श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय